तस्य ईश्वर सिद्धि ईश्वर से सद्भाव सिद्धि यदि तम जगत देव गंधर्व यक्ष रक्ष पितृपिशाचादि दिव्यत पृथ्व्यादित्य चंद्र ग्रह नक्षत्र विचित्रम ये दिया है अनुमान दिया पक्ष हुआ विविध प्राणी उपभोग योग्य स्थान संबंधी यहाँ तक तद न आगे आगे तद अत्यंत कुशल शिल्पी भी दुर्निर्माणम देश काल निमित्त अनुरूप नियत प्रवृत्ति निवृत्ति क्रम क्रमम यहाँ तक पक्ष हुआ एतद भक्तृकर्म विभाग प्रयत्नपूर्वक प्रयत्नपूर्वकत्व साध्य हो जाएगा कार्यत्व सति अथुत लक्षणत्वात् हेतु हो गया गृह प्रासाद रथ शयन आसनादिवत अन्वय दृष्टान्त हुआ विपक्ष आत्मादिवत यत्र साध्य नास्ति तत हेतु नास्ति यथा आत्मा ये अनुमान है के अन्य व्यक्ति का अनुमान है उसमें जगत का पक्ष जगत का पक्ष बनाया जगत कैसा है देव गंधर्व रक्ष पितृ पिशाच आदि स्वरूप और उसमें विचित्र है द्यु व्यत पृथ्वी आदित्य चंद्र ग्रह नक्षत्र से विचित्र जगत है और विविध प्राणी उपभोग योग्य स्थान साधन संबंधी जगत है प्राणी विविध प्राणी प्राणी भी अनेक प्रकार है चौरासी लाख जोन है प्राणी प्राण अस्ति प्राणी कहेंगे तो वृक्ष आदि भी प्राणी में आ जाएंगे ऐसे प्रसिद्ध नहीं किंतु प्राण वृक्ष आदि का है जीव चेतन सब प्राणी है प्राण वाले प्राणी है जीव है उनके भोग योग्य भोग करने के लिए योग्य स्थान साधन संबंधी भोग योग्य स्थान है ये सब लोक है और साधन है भोग की योग्य साधन पांच भूत से सब बनता है त्रिगुणात्मक है भोग योग्य साधन किसके लिए क्या भोजन है खाद्य विभिन्न प्रकार प्राणी जीव है अन्य अन्य स्थान में कहाँ कोई खाद्य मिलता है कहाँ कुछ मिलता है बर्फ रहने वाले उनके लिए खाद्य अलग है और पशु पक्षी के लिए अलग है पेड़ पौधे सब अलग अलग तो विविध प्राणी उपभोग स्थान साधन संबंधी ये जगत है और ये जो जगत ऐसा है तद अत्यंत कुशल शिल्पी विरपि दुर्निर्माणम बड़े-बड़े शिल्पी कार्य करते हैं कुशल शिल्पी सामान्य शिल्पी तो नहीं कुशल कुशल भी सामान्य नहीं अत्यंत कुशल अत्यंत कुशल शिल्पी मकान बनाते हैं बड़े-बड़े सब बनाते हैं तो भी इतने जो जगत है पृथ्वी चंद्र आदित्य नक्षत्र ये पर्वत ये बड़े-बड़े पर्वत को देखेंगे तो हाँ कितने बड़े शिल्पी कुछ कैसे बनाएगा बहुत बड़े पर्वत है एक पत्थर है एक ही पत्थर में इतने पर्वत केदारनाथ रास्ता में है कैसे बनाएगा कैसे इतने बड़े पत्थर कहाँ से आएगा वहाँ वो बनाएगा कैसे अब बनेगा कैसे बीच में कोई जोड़ हो तो जोड़ कर बना देगा पत्थर पत्थर ईंट जोड़ करके बना देते हैं बड़े-बड़े किंतु एक पत्थर इतने बड़ा है तो कैसे बनाएंगे तो गुड़ा है वहाँ सरस्वती पुल के ऊपर एक बड़ा पत्थर रखा गया पुल बना गया भीम पुल तो उसको भीम जी ने लाकर रखा कहते अभी कोई ला सकते हैं अब चलो उसको भी कोई यंत्र उठा देंगे ये बड़े-बड़े पर्वतों कहां से लाएंगे उठाएंगे बड़े विचार करने पर फिर पता नहीं चलता कैसे बनेगा ये समुद्र कितने बड़ा समुद्र कौन कैसे बनाएगा कहां से इतने पानी ले आएगा अरे समुद्र कितने बनाए कितने लोग मन से बनाएंगे ये सोचने पर अत्यंत कुशल शिल्पी से भी दुर्निर्माण निर्माण करना कठिन है और प्राणी के भोग योग्य साधन साधन संबंधी किसके भोग्य क्या है किसके लिए क्या खाद्य है और इतने केवल नहीं देश काल निमित्त अनुरूप नियत प्रवृत्ति निवृत्ति क्रमम देश काल निमित्त के अनुरूप नियत प्रवृत्ति निवृत्ति क्रम ये क्रम ऐसे होता है पेड़ पौधे जीव किस समय उत्पन्न होते हैं किस देश में किस काल में किस देश में कौन सा जड़ी बूटी है अन्यत्र नहीं है किसी काल में उत्पन्न होते यही यहाँ भी मिट्टी में बहुत प्रकार बीज है गिर करके रहते हैं समय आने पर फिर अंकुर होकर के हो जाते हैं अभी जितने में कहीं जमीन में घास है तो उखाड़ दो आगे फिर उसमें कुछ घास कुछ निकलेगा फिर निकल जाएगा <laughs> तो उसको उखाड़ दो और कुछ निकलेगा क्योंकि सारे वर्ष भर निकलने के लिए उसमें बीज गिरा हुआ हमको देखने से पता नहीं चलेगा ये अभी जितना हटा देंगे तो और कुछ निकले और कुछ निकलेगा ऐसे बहुत बीज उसमें रहता है प्रवृत्ति निवृत्ति कभी बढ़ जाना कभी नष्ट हो जाना मरना जन्म होना ये सब तो वर्षा के समय में यहाँ नहीं जहाँ पानी रहते मेढक गर्मी के समय कुछ नहीं वर्षा होने पर सब मेढक पानी में भर जाते हैं कहाँ से आ गए मेढक जो मर जाते हैं वर्षा के बाद उसके चमड़े से टुकड़ा टुकड़ा कर मिट्टी में मिल गया फिर पानी गिरने पर उसमें से फिर जीव हो जाता है कोई कहते मेढक अंदर घुस जाता है मिट्टी के अंदर फिर निकलता है यहाँ पानी नहीं रहता जहाँ पानी होते वर्षा हो जाने पर सब पानी में मेढक भर जा भर जाएंगे सब आवज करेंगे तो ये सब विचार करने पर कौन बना सकता है उसके ये बनाएगा जो कौन होगा और किसका कर्म क्या है उसको जानने वाला बनाएगा कैसा एतद भोक्तृ कर्म विभाग ज्ञ प्रयत्न पूर्वकम भोक्ता के कर्म भोक्ता भोग करने वाला जीव उसका कर्म कर्म के विभाग को जानने वाला किसका कौन पुण्य और पाप तो उसके अनुसार जिसके समय समाप्त हो जाएगा वही पहुंच जाएगा जब भूकंप होने वाला है मरने का समय हो गया तो और जिसका नहीं है वो बच जाएगा कभी कुछ बस की बस पूरा गिर गया तो वहां सब एक किस स्थान पर सब एक ही गांव के लोग होते हैं कहां से कहीं कहां से कहे उनको चुन चुन कर जिसका कर्म समाप्त हो गया उनको एक बस में रख देंगे गिरते समय सब हम गिर जाएंगे और कोई वहाँ के व्यक्ति वो रह जाएगा दूसरे लोग वहाँ जिस समय जिसके आयु समाप्त होता है कि हाँ कर्म सो एकटी कैसे होता है कोई पूछ दे इतने लोग मर गया क्या सौ का प्रारब्ध समाप्त हो गया इतने लोग मरे सौ का कर्म समाप्त होता है किंतु ये सब एक स्थान के नहीं कहाँ से कौन कहाँ से कौन आकर मिले हुए जिस जिसका समाप्त हुआ उसको ऐसे रखा गया भूकंप हो कहीं मर जाते हैं रोग होता है किस रोग हुआ तो बहुत लोग रोग हो गया तो जिन जिन के ऐसा कर्म है इसको रोग हो जाएगा तो भोक्ता के कर्म पुण्य पाप कर्म विभाग को जानने वाला किसको क्या मिलेगा किसका क्या खाद्य मिलेगा किस देश में क्या खाद्य मिलता है कहाँ नहीं मिलता है जहाँ आपको जो जहाँ जो वोट होता है तो उठ के लिए कुछ कांटा खाने का वहाँ कांटा उसके लिए मरुभूमि में और अन्य कोई है बर्फ़ में रहने वाले बर्फ़ में होने वाले कुछ जानवर है उसको खाएंगे ऐसे कुछ कुछ खा कर कहीं घास पास होता है खाते क्या क्या सब अलग अलग प्रकार कर्म हाँ? भोक्ता के कर्म के अनुसार ही उनको मिलता है फल जन्म भी वही मिलेगा उसके अनुसार कर्म के विभाग को जानने वाला पुण्य पाप कर्म किसका कितने कर्म है किस जन्म में कितने भोगना है और किस पुण्य कर्म का फल किस दिन भोग करना किस पाप कर्म का फल किस दिन भोग करना है कब किसके आयु समाप्त होता है वो भी जानने वाला हो अब किसी को पता नहीं दूसरे को पता नहीं अपने को पता नहीं कब आयु कितने ये श्वास बंद कब होगा किंतु परमात्मा को पता है जिसका किस समय को बंद होगा कभी-कभी ऐसे होता है कोई प्राण रक्षा के लिए कहीं एक कमरा में घुसते हैं अब वहीं घुस करके वहीं सो मर जाते हैं अब ऐसे कहते कहीं मंदिर में केदारनाथ में घुस गए बहुत लोग घुस गए तो वहीं बहुत लोग मर गए सब जब बचने के लिए सब आगे घुसेंगे और आगे अंदर कौन है उनके लिए जगह नहीं और अंदर घुसते घुसते घुसते इकट्ठे बहुत हो जाएंगे तो सब मर जाएंगे तो ये सब जानते हैं परमात्मा किसका कर्म किस समय फल देने वाला जन्म मरण विभाग कर्म पुण्य पाप सब विभाग को जानने वाले उनके प्रयत्न पूर्वकम सृष्टि होती है सृष्टि के समय में किस में किस पर्वत में कभी कुछ होने वाला है कभी कहाँ भूकंप होगा किस समय क्या होगा उसके अनुसार पहले बना गया है किस पर्वत कुछ साल पहले क्या समय पर्वत से कुछ निकल के गिरा अंदर आकर के सारे बड़े-बड़े पत्थर बहुत आ गया कहाँ से निकल कर गिरा आया बंद कौन करेगा बहुत आकर भर गया बहुत तो हो गया था अब तो बड़े-बड़े मकान टूट गए थे बड़े-बड़े पत्थर थे पाँच साल सात साल पहले तो ये सब कहाँ गर्मी है पानी नीचे से गर्मी पानी निकलता नीचे से अग्नि निकलती है नीचे से गर्म पानी ऊपर ठंडा है या नीचे से गर्म पानी है बद्रीनाथ में क्या हम्म, यमुनित्र आदि में ये सब जान करके सब बनाने वाले इसे बनाए जाते विचित्र इसको जानने वाले इसे बनाएंगे जगत सामान्य जीव नहीं बना सकता है क्योंकि कार्य तो सति तो लक्षण तो कार्य तो कुलाल घट बना देता है बड़े-बड़े मिस्त्री बड़े-बड़े मकान ही बना देते हैं बड़े-बड़े मकान देखो ये बहुत बड़े-बड़े 60 70 80 100 मंजिल मकान बड़े-बड़े देखो किंतु ये जो प्रकार जगत है इसे कार्य को बनाने वाले मिस्त्री नहीं बना सकते हैं ये दृष्टांत है गृह प्रासाद रथ शयन शया आसन आदि जिस प्रकार बनाने वाले कोई कार्य है विलक्षण कार्य कोई बनाता है तो ये भी जगत भी कार्य होने के कारण कोई बनाया ऐसे विशेष ज्ञान कर्म ज्ञान पूर्वक विभाग जानने वाला कोई बनाया और जहाँ इस प्रकार विलक्षण कार्य नहीं आत्मा है नित्य है उसमें हेतु भी नहीं रहता है कार्य तो स्थिति या तो, लक्षण तो हेतु भी नहीं रहेगा आत्मा दृष्टांत हो गया व्यतिरिक दृष्टांत टीका में एतद दी तस्य ईश्वर से सिद्धि जो पहले संग्रह सूत्र आया तस्य सिद्धि उसके पहले तत्सिद्धिर जगतो नियत प्रवृत्ते है ये संग्रह सूत्र है तसिद्धिर जगतो नियत प्रवृत्ते ये संग्रह सूत्र इसके ऊपर शंका हुई श्रुति स्मृति प्रसिद्धि से नित्य सर्वज्ञ ईश्वर का ज्ञान हो जाएगा तो उसके लिए अनुमान क्यों देते हैं इसके लिए कहते हैं अनुमान के द्वारा संभावना होने पर संभावना के लिए निश्चय हो अर्थवाद नहीं तो अर्थवाद शंका होने से शास्त्रार्थ निश्चय नहीं होगा शास्त्रार्थ निश्चय करने के लिए अनुमान दिया जाता है ये केवल अन्वय के अनुमान व्याख्या व्याख्याति तस्य ईश्वरस्य अनादि प्रसिद्ध कर्तृ व्यतिरिक्तम जगत धर्म यद्यपि ईश्वर सिसाधयित तथापि जगत तो बहूनि विशेषणानि संसारी विलक्षण कर्तृ संभावनाय ये जगत को धर्मी बना करके साध्य करते कोई विभाग प्राणी भुक्ता के कर्म विभाग को जानने वाले के प्रयत्न से बना तो जगत को तो बनाया जगत का बहुत विशेषण दिया खाली जगत नहीं कह दिया खाली पक्ष जगत नहीं कहकर इस प्रकार जगत है बहुनि विशेषण है किस लिए अनादि प्रसिद्ध कर्तव्यतिरितम जगत धर्मीकृत जगत को धर्मी करके ईश्वर से साधि साधित मिष्ट कैसे जगत है अनादि प्रसिद्ध कर्तव्यतिरित जगत अनादि प्रसिद्ध कहन से यहाँ टिप्पणी में दिया स्पष्ट होता है अनादि प्रसिद्ध जगत सकर्तृकम कार्यत्वात् घटवत न्याय के लोग अनुमान करते हैं क्षेत्र अंकरादिकम सकर्तृकम कार्यत्वात् घटवत ये सब अनुमान ईश्वर सिद्ध हो जाएगा तो कार्य तो हेतु सिद्ध कैसे होगा पृथ्वी आदि जन्म की प्रसिद्ध नहीं कुछ लोग कहते के इसकी उत्पत्ति प्रलय नहीं मानते हैं कहीं पृथ्वी आदि पर्वत की उत्पत्ति कैसे होगी पर्वत तो देश से पहले से उत्पत्ति नहीं हुई हेतु सिद्ध होगी कार्य तो, तो न गुण क्रियादि मत्वेन भंगादि विकार दर्शनेन वा सावयत्वेन वा कार्यत्वेन मानात ये बड़े-बड़े पर्वत जिसमें गुण है क्रिया है कर्म होता है गुण है भंगादि विकार दर्शन पर्वत कभी टूट जाता है एक पत्थर टूट गया भंग होता है तो क्या निश्चय होता है क्या उत्पत्ति है नाश होता है उत्पत्ति हुई है और तो तेनवा सावयव है अवयव वाला अवयव वाला बड़े-बड़े पर्वत का अवयव टुकड़ा-टुकड़ा तोड़ेंगे तो निकलता है सावयव हो तो कार्य होगा कार्य तो अनुमान कोई सावयव नित्य नहीं होगा सावयव होगा तो कार्य तो का अनुमान हो जाएगा इसलिए ईश्वर को जो सावयव मानते हैं उनके ऊपर ये दोष आएगा नायक लोग आएंगे वेदांति को कहना नहीं पड़ता है नायक कहेंगे तुम्हारे ईश्वर अनित्य हो जाएगा जो सावय मानेगा तो जो उसको तुम सावय मान तो ईश्वर नहीं होगा जो ईश्वर वो सावय नहीं कुछ लोग मानते जड़ चेतन विशिष्ट ईश्वर एक है उसका अवयव जड़ भी है चेतन भी है सारे जीव चेतन उसका अवयव है जड़ भी अवयव है ऐसा मिल करके परमात्मा ये सब ऐसे मानते कुछ लोग जैसे लड्डू बनाते हैं उसमें बूंदी बना करके कहीं ना लाल है कोई पिला है कुछ मिला के इतने बना करे इतना बड़ा बना देंगे उसमें ना, नारियल भी डालते हैं काजू भी डालते हैं और कुछ डालते हैं मिलकर कितने बड़ा हो गया तिरुपति मनाते इतने बड़े-बड़े मनाते हैं इसी प्रकार ये सब मिला हुआ चेतना जड़ सब मिला हुआ है कि परमात्मा है ये सावय होगा तो अनित्य हो जाएगा परमात्मा में अनित्य हो जाएगा सावय तो संसार ये जगत पर्वत सावय होने के कारण कार्य कार्य की उत्पत्ति सिद्धि होगी उत्पत्ति तो कोई ईश्वर उसका ये सिद्ध करते हैं अनुमान के द्वारा तो न आएगा लोग इसलिए कहते नहीं यहाँ कैसे लेना अनादि प्रसिद्ध कर्तव्य व्यतिरितम अनादि व्यतिरिक्तम अनादि भिन्नम अनादि व्यतिरिक्तम प्रसिद्ध कर्तव्य व्यतिरिक्त प्रसिद्ध कर्तृ का व्यतिरिक्तम अनादि व्यतिरिक्त कहते सादि सादि प्रसिद्ध कर्तृकम सादि जितने कार्य सादि जैसे कुलाला घट बनाता है प्रसिद्ध कर्तृक जितने कार्य है है सादि अनादि व्यतिरिक्त सादि प्रसिद्ध कर्तृ व्यतिरिक्त और तो अप्रसिद्ध कर्तृकम प्रसिद्ध कर्तृक होता है घट किसी मंदिर ये मकान इसका कर्ता किसने बनाया जहां आपको मालूम है मकान किसने बनाया वही अनुमान करना ये सकर्तृकम जहां मालूम है ये मकान किसने बनाया मंदिर किसने बनाया वाहन वन करते ये मंदिर सकर्तृकम कार्यत्वाद घटपद नहीं जहाँ आपको सकर्तृकर्त का कर्ता वाला किसने बनाया जहाँ आपको मालूम है इसको किसने बनाया यह अनुमान करें मकान किसने बनाया करें अनुमान करना हमको मालूम है किसने बनाया यदि मालूम है तो साध्य का संदेह नहीं होगा तो अनुमान नहीं होता है अनुमान तो पक्षे साध्य का संदेह होता है तो अनुमान करते हैं नहीं तो जहाँ साध्य का निश्चय अनुमान नहीं होता है हाँ तार्किक लोग थोड़ा सा कहते नहीं जब हमको साध्य निश्चय होने पर भी जो तर्क में जिनके रुचि है प्रत्यक्ष परिकल परिकलितम अर्थान तर्केण भूसन्ते अनुमानेन भूसंते तर्क रसिका तर्क में जो रसिक है प्रत्यक्ष निश्चित अपि साध्य को भी अनुमानेन भूसन्ते अनुमान प्रमाण से जानना चाहते हैं प्रत्यक्ष दिखता है मालूम है तो भी अनुमान करना चाहते हैं इसलिए पक्ष का आरक्षण से अलग प्रकार कहते हैं संदिग्ध साध्यवान पक्ष तर्क संग्रह में कहा गया साध्य का संदेह होगा तो आगे अनुमान होगा तो ये कहते कोई जरूरी नहीं कि साध्य का संदेह होने से अनुमान होगा संदेह के बिना भी अनुमान हो जाता है कपड़ा सुखाया सोया कमरा में लेटा नींद लगी मेघ गर्जन हुआ जोर से दौड़ कर उठ कर भागते कपड़ा उठाने के लिए तो समय पहले सिंचन करेगा गगनम मेघवत नवा फिर हनुमान गगन मेघवत विशेषण गर्जन वत्वाद उसके बाद उठेंगे ऐसा होता है दौड़े हां हाँ, आरती घंटी लगने पर थोड़ा सोचना पड़ता है अभी जगेंगे या थोड़ी देर जगेंगे देखो बिजली नहीं अंधकार है चलो कह देंगे थोड़ा जुकाम है ठंडी है ये करके वहां तो विचार हो सकता है और ये कपड़ा सूखा हुआ मेघ गर्जन हुआ तो दौड़ कर भागेंगे कमर कमर सुखाया गर्मी धूप डाला जोर से मेघ गर्जन हुआ वहां सोचना पड़ता है अभी जाएंगे या थोड़ी देर बस जाते जाते भी भूल जाता है दौड़ कर भागना पड़ता है तो संदेह करके नहीं है निश्चय हो जाता है तो इसलिए वो न्याय के लोग कहते संदेह होना कोई जरूरत नहीं ऐसे सिथादेशा विरह विष्ट सिद्धि अभाव साध्य का निश्चय अनुमान करने के लिए प्रतिबंधक होता है अच्छा यदि जिज्ञासा है सिथादेशा है अनुमान प्रमाण प्रभुत्व होता है ऐसे कहते हैं तो साध्य जहाँ निश्चय नहीं है ये मकान किसने बना ये अनुमान नहीं करते सारा पृथ्वी साधि कर्तृक जितने हैं ये देख उसको छोड़ करके देखो दिया टीका में साधि प्रसिद्ध कर्तृ व्यतिरिक्त अप्रसिद्ध कर्तृकम जिस कार्य का कर्ता प्रसिद्ध है उसको छोड़ करके ऐसे जगत को धर्मी बनाना जिसका कर्ता कोई प्रसिद्ध नहीं है ये बड़े पर्वत किसने बनाया किस राजा ने बनाया मालूम है बड़े-बड़े पर्वत दो किस राजा महाराजा ने बनाया क्या तो युधिष्ठिर आदि किसने बनाया कोई नहीं तो उसको पक्ष बनाना जो मंदिर आदि किसने बनाया उसको अनुमान करने के क्या आवश्यकता नहीं सादि है जो अनादि प्रसिद्ध कर्तृ व्यतिरित कण से अनादि व्यतिरित के साथ संबंध सादि कार्य प्रसिद्ध कर्तृ प्रसिद्ध कर्तृक से भिन्न अर्थात अप्रसिद्ध कर्तृकम अनादि व्यतिरितम प्रसिद्ध कर्तृ व्यतिरितम अर्थात सादि और अप्रसिद्ध कर्तृकम जो सादि कार्य जिसका कर्ता प्रसिद्ध नहीं ऐसे जगत को धर्मी बना करके क्योंकि यदि साधि कार्य कुछ देखें अभी उत्पन्न हुआ सब ने देखा है उसको नहीं लेना है जिसका कर्ता प्रसिद्ध है किसी मंदिर कुआ को मकान बनाया उसको नहीं लेना जहाँ कर, कर्ता प्रसिद्ध नहीं पर्वत आदि ये सारा जगत मिला करके चंद्र सूर्य ये सारा केवल पर्वत नहीं पृथ्वी समुद्र चंद्र सूर्य ग्रह नक्षत्र सब मिला करके उसका कर्ता प्रसिद्ध नहीं अब घट शराब आदि मकान मंदिर आदि उसको नहीं लेना प्रसिद्ध कर्तव्य अतिरिक्त अप्रसिद्ध कर्तृक ऐसा जगत को धर्म में पक्षी बना करके ईश्वर साधन करना अनुमान से सिद्ध करना चाहते यद्यपि ईश्वर ही साधयितुम इष्ट सिद्धान साधन करना चाहते फिर भी तथा भी जगत तो बहु ने इतने विशेषण क्यों दिया सिद्धांत कहना चाहिए जिसका कर्ता प्रसिद्ध नहीं है शादी मंदिर मकान को छोड़कर जिनका कर्ता प्रसिद्ध नहीं ऐसे जगत को इतने कौन से हो जाता विशेषण बहुत क्यों दिया ये से बहुत विशेषण इसलिए दिया है संसारी विलक्षण कर्तृ संभावनाय संसारी जीव ऐसे बना नहीं सकता है उसे विलक्षण कोई करता है जितने जीव संसारी है ये सब मिल करके सारा ब्रह्मांड में जितने सब मिल करके ऐसे पर्वत आदि चंद्र सूर्य आदि नहीं बना सकते संसारी विलक्षण करता है उसकी संभावना के लिए बहुत विशेषण दिया नयायिकास्तु व्याप्य से पक्ष धर्मता व्यापक विशेष पक्ष धर्म सिद्ध्यति नयायिक लोग क्या कहते हैं व्याप्य से पक्ष धर्मता जैसे धूम है व्याप्य पक्ष पर्वत पक्ष संबंध है पक्ष धर्मता धूमवान पर्वत निश्चय होने से व्यापक विशेष ध्वनि पक्ष धर्म ध्वनिमान पर्वत सिद्ध होता है ततः स्वतंत्रम इसी प्रकार यहाँ व्याप्य है कार्यत्वम कार्यत्व सारे जगत में है पक्ष में रह गया रहन से उसका साध्य सिद्ध हो जाएगा सकर्तृकम कोई करता है खित्य अंकुरादिकम खेती पर्वत अंकुर आदि बीज का जो अंकुर होता है बीज पानी में भिगा करके रख दिया अंकुर जो आता है आपको कुछ करना पड़ता है बैठ करके कोई बनाता है अंकुर भिगा कर तो पानी लगा बीज में पानी गिर गया अंकुर अपने आप आया जमीन में क्या बीज गिरा है अंकुर आ गया अंकुर आने के लिए कोई जीव बैठा कर, बैठ कर करता है अंकुर अपने आप हुआ उसको पक्ष बनाकर चित्त अंकुर आदि कम अद्वैनिक त्रिणुक आदि भी कहते हैं नायक लोग सकर त्रिकम उसका कोई करता है कार्यत्वाद क्योंकि कार्य जैसे घड़ा है घटा सकर्तृ का अनुमान करने से उसका कोई कर्ता सिद्ध हो गया किंतु ईश्वर कैसे सिद्ध होगा वो कहते ईश्वर सिद्ध होता है कोई बड़े मकान देखा बहुत बड़े मकान देखा अनुमान करेंगे इसका कोई कर्ता जरूर है ईश्वर सिद्ध हो गया बहुत मिस्त्री बनकर मिलकर बनाए बड़े-बड़े मंदिर बनाते ना नहीं बड़े-बड़े मकान मिस्त्री बहुत तो सारा जगत बनाए किसने इसका कोई कर्ता है कर्ता बहुत मिलकर बनाए होंगे ईश्वर कैसे सिद्ध होगा कहते बहुत कर्ता मानेंगे तो गौरव तो एक ईश्वर मान लो सरल है ना बहुत बहुत मानेंगे तो गौरव होता है ना घड़ा के गौ कितने हैं गाय है तो बहुत है अब बहुत से गौरव मान लो एक गौ है यहाँ कितने बैठे हैं साधु अनेक मान से गौरव है ऐसे एक ही श्रोता एक ही वक्ता मान लो नहीं तो एक ही मान लो अपने आप इस होता है ये लाघव कह करके ईश्वर सिद्ध करते हैं अनुमान से एक ईश्वर सिद्ध नहीं होगा वो लाघव कह करके कहते हैं अनुमान से ईश्वर सिद्ध कर लेते हैं सीधे तत स्वतंत्रम अनुमानम ईश्वर निश्चय कम आहु स्वतंत्र अनुमान प्रमाण ईश्वर का निश्चय करने के लिए कहते हुए न्यायिका उसका दूषण तो बहुत है यहाँ नहीं कहते स्वामी आनंद गिरी जी तद दूषणम प्रकटार्थ द्रष्टव्यम प्रकटार्थ नामक ग्रंथ हमने लिखा वहाँ देख लेना ये स्वतंत्र अनुमान जो मानते हैं अनुमान प्रमाण क्या है अनुमान प्रमाण दे करके बाद में न्याय के लोग कहेंगे ये श्रुति में भी कहा गया अनुमान से सिद्ध कर दे करके श्रुति में भी कहा गया वेदांति क्या कहें श्रुति से अनुमान श्रुति से सिद्ध है ईश्वर स्मृति से भी सिद्ध है उसको निश्चय करने के लिए असंभावना निवृत्ति के लिए अर्थवादत्व शंका निवृत्ति करने के लिए अनुमान देते हैं पीछे अनुमान वो कहते अनुमान स्वतंत्र प्रमाण है स्वतंत्र का आगम के बिना स्वयं अनुमान से ईश्वर सिद्ध हो जाएगा ऐसे उन्होंने इसलिए बनाया जो लोग आगम को प्रमाण नहीं मानते हैं उनको कैसे सिद्ध करने के आगम प्रमाण के द्वारा नास्तिकों को इसलिए उदनाचार्य ने एक न्याय ग्रंथ लिखा न्याय कुसुमांजलि न्याय कुसुम की अंजलि भगवान को अर्पण करने के लिए ईश्वर सिद्धि के लिए अनुमान सात अनुमान है एक अनुमान न्याय मुतावली दे दिया चित्त अंकुराधिकम सकर्तृकम कार्यत्वाद घटवत इसी प्रकार ईश्वर सिद्धि के लिए अनुमान जो लोग नहीं मानते उनको अनुमान युक्ति से मानना पड़ेगा आगम प्रमाण नहीं मानते और कहा हमारी श्रुति में इसलिए वो स्वतंत्र अनुमान को प्रमाण कहते हैं है कहते उनको नास्तिकों को कोई नहीं समझ करके तार्किक यदि मान ले कि ये स्वतंत्र प्रमाण इसका खंडन किया गया प्रकटार्थ में अनुमान से कोई सकर्तृकत्व सिद्ध हो गया कोई करता है ये सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर एक बहुत पाँच दस मिल करके हो सकता है पचास हो सकते हैं मिलकर बनाए एक एक क्यों निश्चय करेंगे तो लाघव गौरव खाली मानने से सिद्ध नहीं होगा सर्वत्र लाघव गौरव से सिद्ध करेंगे तो वो प्रमाण सर्वत्र नहीं होता है गौरव भी प्रमाण प्रामाणिक माना जाता है लाघव होने से यदि प्रामाणिक अनेक है तो मानना पड़ेगा प्रमाणवंती अदृष्टानि कल्पानि से नहीं अपी प्रमाणवंते दृष्टानि अदृष्टानि कहीं नहीं दिखाया गया प्रमाण है तो कल्पना करनी पड़ती है और बालाग्र शतभाग रूपी न कल्प्य निष्प्रमाणक प्रमाण नहीं तो बालाग्र शतभाग थोड़ा सा भी बिना प्रमाण नहीं मानना प्रमाणवंत अधिष्ठानी कल्प्यानि सु बहुन्यपि अधिष्ट यदि प्रमाण है तो कल्पना करना है बहुत और यदि प्रमाण नहीं तो छोटा थोड़ा सा भी नहीं मानना तो श्रुति प्रमाण है स्वतंत्र अनुमान को प्रमाण कहते उसका दूषण दिया सामान्यत दृष्टम रचयति सामान्यत दृष्ट अनुमान है अन्य वितरे की एत जगत भोक्तृणाम कर्मणाम च विभागम यो जानाति भोक्तृणाम कर्मणाम छूट गया भोक्तृणाम कर्मणाम च विभागम यो जानाति भोक्ता और कर्म भोक्ता अलग-अलग कर्म अलग है पुण्य पाप कर्म इसको जो जानता है तत्पूर्वकम भवितुम अर्हति प्रतिज्ञा यहां तक प्रयत्न पूर्वकम यहां तक प्रतिज्ञा वाक्य हो गया इदम जगत से लेकर के पर्वतो वन्यमान इसको कहते प्रतिज्ञा वाक्य यहाँ इदम जगत से लेकर के प्रयत्न पूर्वकम ये मिलकर के क्या हुआ प्रतिज्ञा वाक्य यो जानते तत्पूर्वकम भवितुमरति प्रतिज्ञा अत्र जगन निमित्त आदिष्ट निष्पत्त्यर्थो यो जीवानाम प्रयत्न तत्पूर्वक जगत सिद्धमिति सिद्ध साधनत्वं वदताम निरीश्वरवादिनां निराशाय विशेषणं भोक्ति कर्म विभागज्ञेति कोई कहते जगत बनाने के लिए क्या है प्राण ईश्वर जगत बनाएगा तो भी प्राणियों के अदृष्ट है निमित्त कारण अदृष्ट के बिना कुछ कार्य नहीं बनेगा कार्य मात्र का सामान्य कारण अदृष्ट है तो अदृष्ट यदि निमित्त कारण हुआ तो अदृष्ट से ही बन जाएगा सब ईश्वर के मानना क्या जरूरत है अत्र जगत निमित्त अदृष्ट निष्पत्ति अर्थो यो जीवानां प्रयत्न जगत का निमित्त हो गया अदृष्ट अदृष्ट की उत्पत्ति के लिए जीव प्रयत्न करते हैं प्रयत्न से पुण्य पाप हो करते हैं प्रयत्न पूर्वक पुण्य भी करते पाप भी करते हैं जीवाना प्रयत्न तत्पूर्वकत्वम जगत सिद्धम जीव के प्रयत्न से जगत सिद्ध हो गया उत्पन्न हो गया प्रयत्न से पुण्य पाप हुआ पुण्य पाप से जगत बन गया तो इतने से ही सिद्ध हो गया अलग ईश्वर मानने की कोई जरूरत नहीं जो ईश्वर नहीं मानते मीम पूर्व मीमांसक कहते कर्म से सब हुआ जीवों का प्रयत्न तत्पूर्वकत्वं जगत सिद्धम जीव के प्रयत्न से पुण्य पाप अदृश्य होकर के जगत बना तो जीव का अदृश्य सारे जीव पुण्य पाप करते हैं उन क्या क्या है अच्छा जगत निमित्ता दृष्ट निष्पत्ति अर्थो जगत निमित्त अदृष्ट निमित्त अदृष्ट निष्पत्ति अर्थो निष्पत्ति के लिए जो जीव का प्रयत्न तत्पूर्वक जगत सिद्धमिति सिद्ध साधन तुम कहते सिद्ध साधन जो हमको निश्चित सिद्ध है उसका साधन कर दो यदि हमको अनिश्चित है तो साधन कर अनुमान बताना जो कोई सिद्ध वस्तु उसके लिए अनुमान प्रयोग करते तो उसको कहते सिद्ध साधन साध्य यदि पक्ष में सिद्ध है तो वहाँ अनुमान के भी व्यर्थता अनुमान व्यर्थ है सिद्ध साधनताम हम निरीश्वरवादी नाम निराशा है निरीश्वरवादियों के मत को निराश करने के लिए विशेषण दिया भौक्ते कर्म विभागज्ञ प्रयत्न पूर्वकम जीव प्रयत्न पूर्वक नहीं हो सकता है भोक्ता के कर्म को भोक्ताओं का विभाग को कर्म के विभाग को जानने वाला जीव जानता है इतने भोक्ता है इस देश में इस काल में इस कर्म फल का भोग करेंगे मालूम है सब कुछ मालूम है इतने लोग वहां जाएंगे इस समय मरेंगे इतने लोग यहाँ बैठ करके वेदांत श्रवण करेंगे ये मकान बना ये मकान में किस समय कब आ करके कौन बैठेगा सब जान करके कोई बनाया जीव कौन आगे कौन आएगा किसको मालूम है आगे कौन आएगा इसके पहले जो बनाए थे उनको पता था आगे कौन आएंगे यहाँ बैठेंगे तो ये सब मालूम है इसलिए अनेक भोक्ता अनेक भोक्ता के कर्म को जानने वाला ही बनाएगा कर्म भक्त कर्म विभाग हो गया तो यहाँ भी तो जो मनुष्य बनाया वो कैसे बना है वहां भी ईश्वर कारण है जीव बनाते हैं कुराल भी घट बनाता है ईश्वर तो कार्य मात्र के प्रति कारण है वो जानते हैं किस कर्म किस किसके यह भी जो मकान बना ये जो सभागृह है यहाँ पाठ चल रहा है ये जो मकान बना मकान बनते समय भी आपका अदृष्ट कारण है आपको मालूम नहीं किसको मालूम नहीं कौन कौन आएगा जो आगे भी बैठेंगे नहीं बीज प्रयोजन अभ्याम बिना कस्यचित उत्पत्ति रस्ति बीज और प्रयोजन बीज है कारण और प्रयोजन किसको फल देगा उसके बिना किसी भी कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है मकान बना तो मकान में आगे कौन बैठेंगे जानते हैं परमात्मा उनके अदृश्य से बना यदि आपके अदृश्य में नहीं बना आपको ज्यादा समय में बैठना नहीं मिलेगा जिसके अदृश्य से बना वो बैठ सकता है जिसके अदृश्य कम अदृश्य से बना दो महीना चार महीना उसके बाद भाग जाएगा यहाँ बैठ नहीं सकता भाग जाएगा <laughs> पास में रहते नहीं बैठ पाएगा कहीं चला जाएगा दूर ऋषिकेश में रहे सब लोग यहाँ बैठ पाएंगे जितने जिनके अदृष्ट है वो तब तक इसी प्रकार अदृष्ट जहाँ जिसका भोग मिलता है आपको कहीं भी सुख दुख मिलता है उसका कारण अपना अदृष्ट है सुख हो दुख हो इसे हमेशा निश्चय करना कहीं कष्ट मिला तो पहला दोष किसको देना अपने कर्म अदृष्ट दूसरे को दोष नहीं देना अपना अदृष्ट कारण सुख मिला हो दुख मिला कुछ वो अपने अदृष्ट कारण है तो अदृष्ट है तो मिलेगा उसका कर्म फल भोगना ही पड़ेगा दूसरे क्या करेगा ये तो ये प्राणियों के भोक्ताओं का विभाग कर्म का विभाग जानने वाला नहीं जीवानाम एते भोक्तारो अस्मिन् देशे काले वा अस्य कर्म कर्म परस्य भोक्ता विभाग ज्ञानम संभवति जीव कैसे ज्ञान नहीं होगा इतने भोक्ता जीव इसी देश में अथवा इसी समय इसी कर्म फल का भोगता है भोग करेंगे इस जीव इतने भोगता है इस देश इस काल में कर्म फल भोग करेंगे ऐसी विभाग ज्ञान किसको है ही नहीं विभाग ज्ञान संभव नहीं किसी को संभव नहीं कि इतने कर्म फल भोग करेंगे जहाँ वन्या होने वाला उसी समय वो लोग जाकर वहाँ पहुँचेंगे वहाँ के लोग को कहीं दूर में अन्य के लोग वहाँ पहुँच गए ऐसा होता है कभी गाड़ी में बस में कोई जाते कोई उतर गया भोजन करते करते नहीं आया सब लोग नाराज होकर उसको छोड़कर चल जाते हैं और होता है मेरे सब लोग चले गए चले गए मेरे पास कुछ नहीं बाद में पता चला बस पूरा ही बस हो गया सब खत्म हो गए जो बचना था वो बच गया रह गया उसके ऊपर नाराज होकर सो गए और सो गए सीधा तो ये अपने काल किसी कर्म फल का भोक्ता कौन होगा किसी देश में किसी काल में ये विभाग ज्ञान जीव का संबंध है कोई ईश्वर होगा क्यों नहीं होगा विशेष अनभिज्ञत्व तो आदित्यथ विशेष अनभिज्ञ अभिज्ञ नहीं है ये सामान्य जीव ऐसे सर्वज्ञ नहीं हो सकता विशेष ज्ञान नहीं थोड़ा कुछ ज्ञान किस किस को है थोड़े ज्ञान से अभिमान हो जाता है ज्ञान कम है बहुत अज्ञान है कितने सामान्य कोई वस्तु को हम देखते हैं कहते इसको हम देखते हैं ये पुष्प देखते ना नहीं सब का प्रत्यक्ष दिखता है इस पुष्प का कितने लोग आप व्यवहार किया इसके अंदर क्या-क्या क्या पता है मालूम मधुमक्खी को मालूम है इसके अंदर मधु है वो ले लेते हैं आपको मधु कहाँ मिलेगा <laughs> कहाँ दिखता है और इसके अंदर क्या है क्या है किस पुष्प के अंदर क्या गुण क्या दोष मालूम है इसको खाने पर क्या रोग निवृत्त होता है किसको मालूम है सब इसी प्रकार जड़ी बूटी में है किससे कोई विष कोई किसी में औषध है औषध भी है रोग निवृत्ति के लिए कहीं जाकर जंगल में कुछ फल देखा दिनात में सुंदर सुंदर फल देखा तो मुख में डाल दिया कैसा लगता है इतने गला ज्वलन हुआ उसमें बहुत प्रकार रहता है कोई कुछ जड़ी बूटी क्या ज्ञान हम कहे जड़ी बूटी देखने से क्या देखा पता नहीं चलेगा किस जड़ी बूटी में क्या गुण है किस रोग के लिए कौन रोग दवाई काम करती है आयुर्वेद शास्त्र में आया तो दिख दिया कोई दिखता है अंदर नहीं दिखता है सामने वाला दिखता है पीछे वाला नहीं दिखता है अपने आप को आपको क्या दिखा आपने आपने पीछे देखा है अपने ये <laughs> इसे ऊपर को किसने देखा है दर्पण से देखेंगे ऊपर को नहीं देखा है कितने क्या देखा है अपना कान दिखता है अपने को <laughs> देखो कितने कोई किसके पास समझते अपने कान को देख लो घूम कर देखो <laughs> देखे अल्पज्ञ है उसको क्या जानता है कुछ नहीं जानता है यथोत लक्षणत्व कार्यते सति यथोत लक्षणत्वाद जगत यथोत लक्षण क्यों क्या विचित्रत्वत कह देते विचित्रत्वाद इत्युक्ते व्यभिचार साध विचित्र क्या है सामान्य कार्य कुछ विचित्र है विचित्रत्वाद क्या विचित्र कार्य तो बनाने वाले कोई जगत जीव भी बना देता है हमको मालूम नहीं दूसरे बना देता है बड़े-बड़े सुंदर देखकर बनाते किसने बनाया कैसे बनाया ये विचित्रत्वाद व्यभिचार हो जाएगा इसे यथोत लक्षण से सही से विलक्षण कार्य जीव नहीं बना सकता है जीव कार्य बनाता है विचित्र कार्य बनाता है किंतु विचित्र तो हेतु करेंगे तो ईश्वर सिद्ध नहीं होगा आत्मादि स्वभाव वैचित्र्यस्य प्रयत्न पूर्वक अभावात तदर्थम कार्य तो स्थिति यदि कहे आत्मादि स्वभाव वैचित्र जितने आत्मादि नित्य पदार्थ मानते उसमें ऐसे क्या कौन करता सिद्ध होगा आत्मा को किसने बनाया जो लोग नित्य मानते आकाश परमाणु आदि उसका कौन बनाएगा कार्य कर्ता कौन होगा इसलिए कह दिया कार्यत्व सति कार्य को पक्ष बनाना आत्मादि स्वभाव वैचित्र्य प्रयत्न पूर्वक नहीं है प्रयत्न पूर्वक तो आत्मा आत्मादि स्वभाव वैचित्र्य है आत्मा आकाश आदि विलक्षण है वो विचित्र कार्य हो जाएगा तो क्या होगा उसमें तो कर्ता कोई सिद्ध नहीं होगा इसे दिया कार्य तो सत्य कार्य तो विशिष्ट विचित्र कार्य करना कार्य तो सत्य कहेंगे तो जिसको नित्य मानते उसको छोड़ो कार्य में को पक्ष बनाओ ऐसे ब्रह्म से भिन्न सब कार्य है किंतु कुछ अनादि भी है कार्य नहीं है तो इसलिए कार्य सती बीते यथोत लक्षण तो हेतु बनाया कार्यत्वादितुते कार्य तो कहेंगे तो बुद्धि पुरोकारी कार्य बुद्धि पुरोकारी घट बनाता है कुलाल वो कुलाल भट्ट बनाते मालूम है इसी घट में पानी कौन रखे पिएगा और वहाँ तो पूर्व विभाग में प्रयत्नपूर्वक तो नास्ती बुद्धिपूर्वकारी कार्य में मकान भी बनाए कितने लोग बनाए तो कौन मालूम है किसको मालूम है किस समय कौन आकर यहां बैठेगा तो विभाग के प्रयत्न पूर्वक तो नहीं है कर्म भोक्ता कर्म विभाग को जानने वाले प्रयत्न पूर्वक तो नहीं बुद्धि पूर्वक कार्य में किसी घर में ये जो बड़े मकान है इसमें विभाग के प्रयत्न पूर्वक तो नास्ति बुद्धि पूर्वक कार्य में इसलिए अनेकांतिक तो व्यभिचार हो जाएगा क्योंकि कार्य तो रहा है बड़े मकान में कार्य तो है किंतु साध्य नहीं रहा इसलिए कार्यत्व केवल हेतु नहीं करके कार्यत्व सति यथोत लक्षण तो आप विलक्षण कार्य को पक्ष बनाया हेतु बनाया व्यभिचार ने जानाते भी तक्षादिर अयम गृहादि अस्य सामेन द्रव्य दानादि पूर्वकम बढ़ई जो बनाता है वो तो मालूम है अच्छा तो नहीं कुछ और रह गया यथोत तो विचित यद विचित्रम तद विभागज्ञ प्रयत्न पूर्वकम यथा गृहादि गृहादि विचित्र है विभागज्ञ प्रयत्न पूर्वक बनाता है गृहादि जानाते भी तक्षादि बढ़े ही जानता है अयम गृहादि अस्य स्वामीन द्रव्यदान पूर्वकम इसी स्वामी मालिक द्रव्यदान पूर्वक बना अस्य निर्माणम इसका निर्माण इत्थम च इस प्रकार से जानता है इति तत्व साध्य वैकल्यम साध्य वैकल्य क्या है दृष्टांत में कार्य तो है मकान में और साध्य से कोई विलक्षण जीव से विलक्षण करता तो सिद्ध नहीं होता है इसलिए दिया कार्यत्व सति यथत्व लक्षणत्व तो सामान्य कार्य नहीं है कार्य हो और यथोत लक्षण कौन से विलक्षण कार्य साध्य वैकल्यम यथा शब्द में साधन दूषण है शब्द में जैसे दिया उसके अनुसार साधन दूषण होगा हेतु पक्ष देकर के यथा शब्दम साध्य में कर्म पदेन धर्माधर्म विवक्षित तक्षादि तो अच्छा बड़े को नहीं है इसे का वहां धर्माधर्म लेने का नहीं है उसका कार्य जानता है गृह दान धन दान करके अमन को बनाता है सामान्य ज्ञान है ये मकान बनाया बड़े ये बढ़े में जानता है इस स्वामी इतने धन देकर बनाया इसका ये कार्य ये सब जानता है इतने को नहीं लेना तो विलक्षण जगत को लेना है यह कार्य तो सती यथोत लक्षण तो वहां साध्य नहीं रहेगा अच्छा व्यतिरेक के दिया विपक्ष व्यतिरेक तो उदाहरण नाभिप्राय हाँ। साधन दूषण अपने अभिप्राय के अनुसार नहीं शब्द को लेकर देखना पड़ेगा जैसे शब्द में दिया कार्य तिरसति विपक्ष यथोत लक्षण तो आदम विपक्षे व्यतिरेक विपक्षे आत्माधिपत विपक्ष आत्माधिगत व्यतिरेक दृष्टान्त दृष्टांत व्यतिरेक आत्माधिपत व्यतिरेक दृष्टांत वही होता है जहां साध्य भी नहीं रहे हेतु भी नहीं रहे यत्र बने नास्ति तत धूम पिनास्ति यथा जल जलर्द इसी प्रकार यहाँ साध्य नहीं हेतु भी नहीं यद विभागज्ञ प्रयत्न पूर्वक न भवति तद विशिष्ट कार्य भी न भवति विभागज्ञ प्रयत्न पूर्वक जो नहीं होता आत्मा विशिष्ट कार्य भी नहीं है यथा आत्मा आकाश आदि आत्मा और न्यायमति के अनुसार आकाश ये तो अन्वय व्याप्ति प्रयोग है इत्यर्थ अन्वय व्याप्ति का दृष्टांत कौन हुआ गृह प्रसाद रत्न और की बात दृष्टांत आत्मा अन्य व्यतिरिक अनुमान हुआ विचित्र मस्तु विभाग के प्रणित रूपक तो न भविष्यति किम बाधकम विपक्ष बाधक तर्क अनुमान कर दिया पर्वत वन्यमान धूम वत्वात यथा महानसम यथा जलहृद की दृष्टांत कोई कहता है पर्वते धूम वस्तु वनिर्मास्तु धूम तो हम देखते धूम है वनी नहीं हो वनी क्यों तो वहां विपक्ष बाधक तर्क देना पड़ता नहीं तो धूम में व्यभिचार की शंका होती धूम वन्नी व्यभिचारी वन्नी के बिना भी धूम रह सकता है पर्वत में वन्नी कहाँ है धूम तो दिखता है ठीक है वन्नी तो नहीं है इसलिए कहते यदि वन्नी न स्यात् तरी धूम अपि न स्यात् वन्नी नहीं रहे तो धूम भी नहीं होगा क्यों नहीं होगा हाथी नहीं रहेगा तो व्याघ्र नहीं रहेगा हाथी नहीं रहेगा तो घोड़ा नहीं रहेगा अपने घर में हाथी है क्या हाथी नहीं यदि हाथी हस्ती न स्यात् तरी घटो भी न स्यात ये हो जाएगा तर्क तर्क करने के लिए भी कुछ नियम है तर्क ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि धूम है कार्य वन्य है कारण कारण के बिना कार्य नहीं रहता है धूम सवन्य जन्यत्वात् धूम वन्य जन्य है यदि परमते वन्य नहीं होती तो धूम नहीं होना चाहिए धूम दिखता है इसलिए वन्य मानना पड़ेगा इसको कहते विपक्ष बाधक तर्क तर्क के द्वारा व्यभिचार शंका की निवृत्ति होती है धूम में जो व्यभिचार शंका उसकी निवृत्ति करने के लिए तर्क यहाँ इस प्रकार कहते हेतुरस्तु साध्यमास्तु पक्ष में हेतु रहे साध्य नहीं रहे साध्य के अभाव वाले पक्ष में हेतु रह जाए अर्थात पक्ष ही विपक्ष हो जाए विपक्ष किसको कहते हैं निश्चित साध्य अभावान साध्य अभाव जहाँ है वो विपक्ष कहते हैं पर्वत धूम दिखता है ये विपक्ष अर्थात बनी अभाव वाला वन्य वाले अभाव वाले पर्वत में धूम रह गया तो विपक्ष में धूम रह गया तो ऐसे शंका करते हैं धूम हेतु अप्रयोजक अनुकूल तर्क शून्य व्यभिचारी ये शंका की निवृत्ति के लिए विपक्ष बाधक तर्क देते हैं इसी पर यहाँ कहते विचित्र कार्य तमस्तु तो जगत में विचित्र कार्य तो हेतु रहे किंतु साध्य नहीं रहेगा विभाग प्रयत्न पूर्वक तो न भविष्यति साध्य नहीं रहे किम बाधकम जगत वैचित्र कैसे होगा पूर्व जी कदा जगत वैचित्र तो कर्म से हो जाएगा कर्म वैचित्र से जगत वैचित्र हो जाएगा जगत वैचित्र से कर्म वैचित्र आदेव संभवत कर्म विलक्षण होने से जगत विलक्षण हो जाएगा अतः पक्ष एव साध्याभाव संकया पक्ष एव पक्ष में ही साध्याभाव की शंका होने से क्या होगा संकित विपक्षे पर्वत में वन्य अभाव की शंका होगी तो को क्या कहेंगे विपक्ष वन्य अभाव निश्चय होगा तो विपक्ष कहेंगे वन्य अभाव का संशय होगा तो संकित विपक्ष विपक्ष रूप संकित होगा संकित विपक्षे अर्थात ये जो पर्वत को विपक्ष ऐसे शंका करता है पूर्वपक्षी कार्य तो विलिखण कार्य है किंतु कोई प्रयत्न विभागज्ञ प्रयत्न पूर्वक तो नहीं होगा संकित विपक्ष में हेतु यदि रह जाएगा उसमें हेतु में व्यभिचारी की शंका होती साध्य अभाव वाले में हेतु रह जाए तो उसको कहेंगे व्यभिचार वन्नी नहीं है पर्वत में से पूरा पीछे नहीं कहता है वनिर मास्तु वन्नी नहीं हो वन्य भाव हो तो वन्य भाव की शंका है तो वहां हेतु रहेगा तो क्या कहेंगे सप संकित विपक्ष में हेतु रह जाए तो व्यभिचार का निश्चय नहीं होगा व्यभिचार का संशय होगा हाँ, जहां हाँ, साध्य नहीं ऐसा निश्चय है वह हेतु रह जाएगा तो कहेंगे व्यभिचार साध्य अभाव निश्चय नहीं है संशय है हेतु रह गया वह हेतु को क्या कहेंगे संकित व्यभिचारी व्यभिचार की शंका हुई संकित व्यभिचार हेतु में रहेगा हेतु संकित व्यभिचार संकित व्यभिचार जैसे हेतु स हेतु संकित विचारित अभिप्रेता कर्मण एव आगे कहते कर्मण वेति चेत पूर्व पक्षी कहता कर्म से हो जाएगा सब ईश्वर क्यों सिद्ध होगा अर्थात हेतु में व्यभिचारी की शंका है जगत में हेतु हम मानते हैं किंतु ऐसा कोई भी कर्म भोक्ता के विभाग ज्ञान पूर्वक ऐसा कोई जरूरी नहीं है कर्म से हो जाएगा पूर्व पक्षी कहता समय पूर्व मीमांसक इति चेत परिहरति सिद्धांत कहता न परतंत्र से निमित्त मात्र कर्म जड़ है परतंत्र है स्वतंत्र नहीं कर्म प्राणी का अदृष्ट पुण्य और पाप पुण्य पाप में दोनों में चेतन कौन है पाप चेतन या पुण्य चेतन तो जड़ कौन होगा दोनों जड़ है जड़ स्वतंत्र कुछ नहीं कर सकता है अपने आप फल दे देगा किसको स्वर्ग पहुंचा देगा किसको नरक पहुंचा देगा किसको मनुष्य बना देगा किसको भेड़ बना देगा किसको कचर बना देगा पुण्य पाप कर्म पुण्य पाप निमित्त है बनाने वाला कोई देने वाला प्रेरणा करने वाला ईश्वर मानना पड़ेगा क्योंकि कर्म स्वयं जड़ है तो परतंत्र से निमित्त मात्र तो आदि परतंत्र उनसे केवल निमित्त है निमित्त मात्र उसके कर्ता कोई होगा निमित्त कारण मानते हैं दंड चक्र भी निमित्त कारण है किंतु बनाने वाले कुलाल चेतन है ठीक है मैं कर्तृ परतंत्र से कर्मण निमित्त मात्रत्वात् कर्तृ परतंत्र कर्म कर्म कर्ता से उत्पन्न हुआ कर्तृ परतंत्र कर्म निमित्त मात्र है कार्य के प्रति स्वातंत्र निमित्तत्व समवाद जड़ होने के कारण स्वतंत्र निमित्त नहीं हो सकता है परतंत्र है कुलाल घट बनाता है दंड चक्र लेकर के दंड चक्र जड़ है कुलाल उसको बनाता है तो सहायता लेता है चेतन के बिना दंड चक्र से नहीं बनता है कार्य वैचित्र से भंग प्रसंग बाधक कर्ता मंत्र कर्ता नहीं मानेंगे जड़ से विचित्र कार्य नहीं हो सकता है कार्य में जो वैचित्र दिखता है उसका भंग हो जाएगा वैचित्र नहीं रहेगा ये बाधक है जगत वैचित्र दिखता है ये भंग हो जाएगा कर्तारम अंतरेण कर्ता के बिना कर्ता के बिना कार्य में वैचित्र नहीं होगा इसलिए कर्ता मानना पड़ेगा केवल कर्म से नहीं होगा महिमा में बोलते हैं नहीं करता रम अनादित्य अनादित्य में फलति महिमनस्तते करता रम अनादित्य जगत वे किम फलति महिमनस्तत्र है पीछे बाबा भाव भगवत हाँ नहीं अनादित्य नहीं अना हाँ नहीं कर्तारम भवधीर अनादृत्य भवधि कर्तारम अनादृत्य भवविधि नहीं फलती ये जगत क्या उत्पत्ति कर्ता को नहीं मान करके जगत वैचित्र नहीं हो सकता है नहीं नहीं भवविधि किम किंका बोलो कि मेह किंकार अजन्मान बोलो अजन्मानो लोक किम वयवंतो पे जगत मधेश अनेशो वा कोर्याद ये अजन्मान लोका किम अवयवंतो भी जगता ये अवयवंत सावयव जगत क्या अजन्म जन्म ही तो हो सकता है सावयव जगते अनादि हो सकता है अजन्मा नहीं उत्पन्न हुआ और अधिष्ठातारम कोई कर्ता के बिना भव विधि भव संसार की उत्पत्ति स्थिति प्रलय आदि अधिष्ठातारम अनादित किम भवति कोई चेतन अधिष्ठाता के बिना क्या ये जगत उत्पत्ति स्थिति पर संभव है ऐसे के ईश्वर से भी ने किसी बना दिया वा कुरियात भुवन जनने उसके पास क्या परिकर है सामग्री है ईश्वर से ये जगत बना देगा ये जगत बनाने के लिए ईश्वर से भिन्न कौन बना सकता है उसके पास कहां सामग्री आ गया इतने बड़े पर्वत इतने समुद्र बनाने के लिए कौन बना सकता है यह तो मंदास्तम प्रति हे अमरवर इमे संशय रते ये सब मंद बुद्धि वाले आपके प्रति संशय करते ईश्वर के प्रति संशय करने वाले मंदबुद्धि वाले महिमन स्तोत्र हैं आचार्य कहते हैं ये क्या संभव है जीव बना देगा और चेतन के बिना अपने आप बन जाएगा इसलिए ये मंदबुद्धि वाले संशय करते ईश्वर नहीं है ये कैसे संशय करते मंदबुद्धि वाले ऐसा संभव है नहीं अधिष्ठातारम बिना अनादित्य भवविधि नहीं संभवती संभव नहीं है इसलिए विपक्ष कर्तार मंत्र न कार्य वैचित्र भंग प्रसंग अतः पक्षे साध्याभाव शंका उत्तरे साभाव शंका अनुपपते पक्ष में साध्याभाव की शंका हो नहीं सकती साध्याभाव की शंका हो तो हेतु में व्यभिचार की शंका होगी पक्ष में साध्याभाव की शंका नहीं होने से न संकित व्यभिचारित्वम इति भाव हेतु में संकित व्यभिचारित्व नहीं है यद्या न परतंत्र से निमित्त मात्रत्वाद एवेक संग्रह वाक्य आया चे न परतंत्र स निमित्त मात्रत्वाद ये संग्रह वाक्य उसकी व्याख्या आगे है ओम आप्यायन्तु ममांगानी